जिंदगी जो करते हो रहना यही उसका साधन यही उसके चैतन्य का साधन अनंत रूपों में प्रतीत होते हुए भी अपने स्वरूप में ज्यो का और उस दर्पण में आपकी अहंता टिक जाए तो कहीं खतरा नहीं हो एक बार एक विश्व का बहुत प्रसिद्ध चित्रकार उसने कृष्ण की महिमा सुनी विदेशों में तो भगवान कृष्ण की फोटो खींचने के लिए जो है वो द्वारका और सभा में पहुंच करके प्रार्थना किया कि भगवान मैं आपका इच्छित भगवान ने सोचा कि बड़ा आश्चर्य है बड़े बड़े योगी हुए समाधि लगाने वाले हुए हजारों पर पर मेरा चित्र आज तक कोई खींच नहीं पाया मेरा चित्र खींच नहीं पाया ना सब पंथालम सोचे मेरा चित्र तो वाणी से परे है मेरा चित्र खींच नहीं पाया इसलिए तो बड़ा भारी दुस्साहस किया है मैं आपका चित्र खींचूंगा चित्र बनाऊंगा उस समय कैमरा नहीं था हाथ से बनाया जाता भगवान मुस्कराए भगवान ने कहा अच्छा भाई चित्र बना लो उसने खूब ध्यान से देखा रेखा ठीक किया रेखा ठीक के खूब बैठा लिया और बैठा करके चला गया अपने कमरे में सात दिन बड़ा भारी परिश्रम किया परिश्रम करके रंग आदि कर करके ठीक अब जब दरबार में ले आया भगवान ने कहा चित्र बना लिया कहा बोल बना लिया दिखाओ जरा सबको जो चित्र खोला तो देव ने अपना रूप बदल दिया <laughs> देव ने अपना रूप बदल दिया अब वो चित्र की तरफ देखता है और देव की तरफ देखता है चित्र की तरफ देखता है देव की तरफ देखता है ये सोचा कहाँ गड़बड़ी हो गई ये तो कुछ समझ में नहीं बड़ा भारी जो है कंपन हो गया उसके हृदय में मैं जीवन में कभी धोखा नहीं खाया बड़े बड़े राजाओं की चित्र हमने बनाई इस दरबार में आकर के तो मूर्त बन गया फिर भी हिम्मत संभाला हा भगवान गलती हो एक बार हमको अवसर हो भगवान ने कोई बात फिर देखा फिर देखा क्या फिर जाकर के सात दिन परीक्षण करके बनाया और बना करके जब ले आया तो देव ने अपना रूप बदल दिया अब देखा अब तो उसको बड़ा भारी झटका लगा यहाँ क्या कौन सा बंधन यहाँ आया है ये कहाँ आया बहुत शक्ति बटोरा सोचा कि एक बात तो और प्रयास करें पर तीसरे बार भी जब फेल हो गया तो पागल तो दरबार में फेल हो उसका दिमाग जो है वह पागल के समान घूमते घूमते एक जंगल में एक महात्मा महात्मा ने कहा तू इतना दुखी क्यों हो रहा है क्या दुख अरे कहा महाराज विश्व में मैं हार नहीं खाया पर आपके राजा के पास आकर के महात्मा के महात्मा ने कहा बेटा तू राजा का चित्र बनाना जानता है पर देवता का चित्र बनाना तुमको नहीं तब थोड़ी सी उसकी तुमने कहा देवता देवता का चित्र दूसरी तरफ बनता है हाँ देवता का चित्र तो अलग ही प्रकार बनता है वैसे नहीं हमारा हमको सिखा दीजिए देवता का चित्र मैं तो नहीं जानता था कि आपके यहाँ देवता है कहाँ वो देवता है वो राजा नहीं है वो तो देवता है वो तो ऐसी नहीं बनती है आप कहते महात्मा ने कहा ठीक बैठाया महात्मा ने धीरे धीरे उसको एक दर्पण बहुत शुद्ध दर्पण उसने सोचा कि इस दर्पण के ऊपर कोई चित्र महात्मा बनवाए दर्पण बहुत शुद्ध दर्पण तैयार हो महात्मा ने कहा देखो एक नए कपड़े से सुखा चित्र बन गया अरे कहा महाराज इसमें तो कुछ है ही नहीं है अरे कहा देवता का चित्र ऐसे बनता है तू नहीं जानता चले जाओ दरबार में लंके की चोट पर खड़ होके हे देव देव हमने तुम्हारा चित्र बना दिया घबराना नहीं बोलते देवता को बस में करने का यही उपाय है तुम्हारी जीत होगी हार नहीं पहले तो उसको विश्वास नहीं होता देख ले गया कहा बना लिया चित्र कहा बना लिया क्या दिखाओ अब रूप बदलते रहो तुम अब रूप बदलो चाहे राम बनो चाहे कृष्ण बनो चाहे हनुमान बनो चाहे चाहे देवी बनो चाहे गणपति बनो जितना रूप तुमको बनाना हो बनाओ बन गया कि नहीं जितना रूप बदल सकते हो तुम बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं यही बात ये जो हमारा जो है अनुभूति दर्पण है आत्मदर्पण मन बहिर्मुख है तब उसको मन कहते हैं और मन अंतर्मुख हो जाए तो उसको आत्मा कहते हैं कोई अंतर इतने अंतर बहिर्मुख हुआ तो मन समझाओ चित्तम चिदित जानी या सकार रहित तो सकारो विषय चित्त दोता है और चित्त एक है और ये सकार जो है ये विषयों के साथ जो जो संग है यही सकार है उसको निकाल दो तो बस ये जो दर्पण है यह शुद्ध दर्पण जो है शुद्ध दर्पण में आपकी प्रतिष्ठा हो जाए कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं सारे चित्रों का समाधान आधार विश्वम दर्पण ये सारा का सारा विश्व जो है वह दर्पण में दिखाई देने वाले नगर के समान है यहाँ दर्पण ही है ना आप ही हो बाकी कुछ श्रेष्ठाचार्य भगवान कहते हैं देखो ये बाहर भीतर का भ्रम है ये बड़ा भारी भ्रम तुमको जन्म से लग गया है आप कैसे आ देखो तुमने जो है भोजन की गठरी अपने सिर पर रख ली लकड़ी बाहर मालूम हो रही कि नहीं फिर तुमको भूख लगी तुमने कटरी खोला और उसको क्या किया खा लिया भुक्तम यथान्नम पुक्षितम पे नहीं वो मन्य थे पूर्ण अहंकार कवलितम विश्वम योगी अब बताओ कि जो बाहर था वह अंदर हो गया कि नहीं आत्मा हो गया कि नहीं उतनी देर तक बाहर था और अब आत्मा बन गया भारी अहंता इस शरीर के साथ संबंधित है तो ये बाहर हो रहा है और भारी अहंता आकाश के साथ संबंधित हो जाए तो सारा विश्व अंदर हो जाए इतने है और कुछ नहीं अंदर बाहर की कल्पना और कोई चीज नहीं है अब कहो इसको अहंता कैसे छोड़ दे इसको अहंता आपकी रोज छोड़ती है स्वप्न में ये कल्पित शरीर के साथ आपकी अहंता जुट जाती है कल्पित शरीर के साथ जुट जाती है और वो सारा विश्व आपके अंदर प्रकट होकर के बाहर दिखाई देने लगता है उस अहंता को लेकर के आप सारा का सारा व्यवहार करते हैं तो अहंता इसके साथ कहाँ है पिछले जन्म में पिछले शरीर के साथ अहंता थी इस जन्म में इस शरीर के साथ अहंता है ये शरीर छूट जाए दूसरे शरीर के साथ आस्था हो जाएगी और स्वप्न में रोज एक कल्पित शरीर के साथ तुम्हारी आस्था जुट जाती है और जहाँ उसके साथ अहंता जुटी वहाँ तुम्हारा वैभव गया तुमने अपने संकल्प से स्वप्न का जगत बनाया तुमने अपने संकल्प से स्वप्न का जगत बनाया तुम्हारा शासन है इस पर तुम्हारा वैभव है स्वप्न और यह वैभव एक सेकंड में लुप्त हो जाता है क्यों लुप्त हो जाता है बनाए हुए उस जगत की एक अंश में तुमने अपने आम को जोड़ दिया है तो बाकी बाहर और क्या है बाहर भीतर बोलो और क्या बाहर भीतर है बाहर भीतर नाम की कोई चीज आपकी अहंकार इससे संबंधित है तो यहाँ से बाहर मालूम होता है प्रत्येक फूल के बुद्ध में जो कीड़ा है उसकी अहंता उससे संबंधित है तो वो उसके लिए आपका शरीर ब्रह्मांड हो गया कि नहीं उसके लिए आपका शरीर यही खेल और कुछ सारा स्वप्न आपका वैभव है पर एक भूल यही एक शरीर के साथ अहंकार संबंध हुई तो बाहर विश्वं दर्पणदृष्टिमाननगरी एवं निजान्तर्गतं पाश्यन् ऐसे निद्रया व भूतम व आत्मन जो यहाँ पर देख रहा है वही जगेगा तो दूसरा जो अभी अपने को एक शरीर के अंदर भान जिसको हो रहा है वही जग जाएगा तो सारा ब्रह्मांड उसके अंदर जो अहंता इसको छोड़ देगी अहंता सत्ता में लीन हो जाएगी सारा ब्रह्मांड बाहर के आने गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत विलक्षण बात सकल दृश्य निज उदर मेली निद्रा तज सोहे जोगी सोई हरि पदानुभव परम सुख अतिशय द्वैत योगी देश काल कहना ही तुलसीदास यह दशाहीन संशय निर्मूल न जाए ये देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है कहते सकल दृष्टि नीचे उदर मेल आप सारे विश्व को खा सकते हैं आप कहते हम कैसे विश्व को खा सकते एक एक पाव आटा से ज्यादा खाए विश्व को कैसे खा सकते खा सकते सारे सारे विश्व को आप खा सकते आप अपनी अहंता को जब अहंता एक जगह से दूसरी जगह बदली रही है तो आप कभी आकाश के साथ जोड़ करके देखिए अपनी अहंता को आकाश के साथ आप जोड़ दीजिए तो सारा विश्व आपके उधर भी हो जाएगा कि नहीं आपने खा लिया कि नहीं विश्व को विश्व को खाने में जो है और कोई बात नहीं कि आपकी अहंता का खेल है मूला हंता कवलितम योगी योगीश्वर श्रेष्ठाचार्य भगवान कहते हैं जो ये संकुचित हंसा को छोड़ करके पूर्णा हंसा उसमें हो जाती है परमेश्वर में पूर्णा हंसा है और हमारे में संकुचित हंसा है वही विद्युत है उसी विद्युत में जीरो पावर का बल्ब लगा है उसी विद्युत में लाख पावर का विद्युत की तरफ से कहीं गड़बड़ी नहीं विद्युत का पक्षपात है क्या पक्षपात विद्युत की तरफ से नहीं है दोनों के लिए विद्युत समान है प्रकाश बड़ा भारी खेत दिखाई दे रहा है ये उपाधि की महिमा है ऐसे आपके स्वरूप में कहीं किसी के स्वरूप में कोई वो नहीं है वह ब्रह्मा से लेकर के सीटी पर्यंत बल्ब का भेद है स्वरूप का भेद ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत जो भेद मालूम हो रहा है ज्ञान में भेद मालूम हो रहा है शक्ति में भेद मालूम हो रहा है यह भेद वास्तविक भेद नहीं है यह स्वरूप का किसी प्रकार का भेद नहीं है ये खाली बल्ब का भेद है एक ही विद्युत इतने बल्बों में अनंत प्रकार का ज्ञान तो गोस्वामी जी कहते देखो सकल दृष्टि निज उदर में निद्रा सज अज्ञान निद्रा छोड़ देता है तो वह योगी अपने स्वरूप में सो जाता स्वरूप में सोई पद अनुभवे परम सुख वही जो है वह भगवान का जो सुख स्वरूप है सद विष्णु परम पदम यत्र कच्छन सूर्य है उस परम पद का अनुभव वही करता है वहाँ किसी प्रकार का भेद है नहीं अतिशय द्वैत वियोगी द्वैत नाम की कोई सीमा नहीं देश काल की भी कल्पना नहीं है वो स्वामी जी कहते हैं यही दशा इस दशा में ये दृष्टि पहुंचाई तो इसके संशय का निर्मूल विशुद्ध ज्ञान के बिना किसी का संशय दूर कोई न कोई संशय तो हिमालय में गांव गांव में देवता तो देवता कभी आते हैं पुजारी के क्षेत्र लोग पूछते हैं आप आश्चर्य करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ईसाई मिशनरी नहीं काम कर पाई पहले उसमें देवताओं की ही कृपा वो लोग पूछते देवता से इस पर विश्वास करना कि नहीं करना देवता बोलते थे नहीं करना बस फिर कोई नहीं काम कर कोई कैसा भी व्यक्ति चला जाए देवता से पूछे कि देवता अनुमोदन कर दिया तो फिर आप भगवान और देवता यदि अनुमोदन नहीं किया तो फिर आपको वो पूछेंगे अब कहो अंधविश्वास और दूसरा अंधविश्वास ने बचा लिया वहाँ अब तो पढ़े लिखे हो गए तो कुछ शुरू भी हो रहा है पर पहले तो आज तक नहीं उत्तरकाशी में एक महात्मा थे संग्रहालय एक गांव का वहाँ देवता कंडार देवता कंडार देवता आया हुआ महात्मा भी भीतर नहीं गए थे वहाँ खड़े हो गए जब सब लोग पूछ रहे तो महात्मा ने कहा तुम सच्चे देवता हो कि झूठे देवता हो हाँ मैं सच्चा देवता हाँ सच्चा देवता तो बताओ मुझे ज्ञान है कि नहीं है तुम तुमको ज्ञान नहीं महात्मा ने कहा तुम देवता नहीं मुझे ज्ञान है आज जब ज्ञान होता तो संशय क्यों होता यदि तुमको ज्ञान होता तो संशय कैसे होता ये कैसे तुमको पूछा ज्ञान है तुमको संशय है इसलिए ज्ञान है गोस्वामी जी कहते हैं कि संशय निर्मूल न जाए यही दशाहीन इस प्रकार की दशा जिसको प्राप्त नहीं हुई है उसका संशय अब यहाँ तक तो जो है वह ये देखो उसी परमात्मा का जीव भाव धारण करके और संसार की अनुभूति की बात कर दी ये पश्चन जो है ना ये जीव भाव में जो है एवं पश्चिम बहिरीवो वो पश्य इस जीव भाव में सारे जगत को अपने से भिन्न कर लेकिन वही अब जो पश्चन है वही यह के साथ जाएगा यह प्रबोध समय अद्वयम स्वात्मान साक्षात जब तक सोया है तब तक ऐसा ही देखता है और जब तक इस प्रकार का जो है आपने को अनुभव हो रहा है तब तक हम सो करके ही देख और सो करके देख रहे हैं जो तो इसमें सारे व्यवहार के अंदर जितनी समस्या है वह न होते हुए भी वही हमारे अंदर पड़ अब वही यह पश्चन का कर्ता जो बना माया पश्य माया से ऐसा देखता है और जगने पर ऐसा नहीं देखता है निद्रा से ऐसा देखता है अपने अंदर की जगत को बाहर देखता है निद्रा से परंतु जब जग जाता है तो ऐसा प्रबोध समय अद्वयम स्वात्मान एवं साक्षात प्रबोध हो जाने पर जग जाने पर वह देखता है ईट मेवा मैंने पहले कहा था किसी भी घड़े का जो सूर्य है वह अपने मूल स्वरूप में जब पहुंच जाएगा तो सर्वत्र देखने में भी थोड़ी बात समझते आप कहोगे कि इसका मतलब ज्ञानी महापुरुष है उसको जगत नहीं दिखाई देता नेत्र का देखना एक और समझ अंतर एक आशिकार भगवान कहते कि देखो तो आपका स्वरूप किसी समय भी आपका स्वरूप कैसा है पूर्वन पूर्वम व्याघ्र बीसम पर एक जो है बह रुपया था वो राजा के पास आया कहा कि हम आपको कुछ बन के दिखाना चाहते कहा तो बाघ बन के दिखा सकता आपने बाघ बन सकता समय चाहिए बाघ बन करके आपको दिखा दूँ अच्छा बाघ बन के दिखा वही हमको दे वो तो जाके अभ्यास किया पूरे शरीर को बाघम्बर से बिल्कुल बाघ की आकृति आदरा के द्वारा बाघ किया बाघ के समान गर्जना उसने जो है कुछ काम कर और एक दिन दरबार में जोर से गर्जना करके वो आ गए जो नहीं जानते थे वो जान लेकर के वह बाप के समान दिखता था बाप के सहान था भाष्यकार भगवान एक प्रश्न उठाते वो बाप के समान दिखा बाप के समान दहाड़ा और बाघ के अंदर जो हिंसा वृत्ति है वो हिंसा वृत्ति उसमें आएगी कि नहीं वो नहीं आएगी वो किसी को खा नहीं अरे बाप के समान दिखता है दहाड़ता है दिखा तो नहीं सकता किसी अंदर से उसको यह बोध है कि मैं पुरुष हूं इस ज्ञान को वह काट नहीं इस ज्ञान को भूल भी जाए तो भी एक ज्ञान कट नहीं सकता है बाधित नहीं कोई इसको याद नहीं करता है पर इस ज्ञान को मिटा नहीं सकता इसलिए अकेले जिस समय आप जो है स्वरूप में जग जाएंगे उस ज्ञान का अभ्यास नहीं करना चाहिए और वह ज्ञान ऐसा है कि सारा जो ये ये, जो व्यवहार है ये बाधित होकर के रहेगा इसमें सच्चाई आ ही नहीं आप चाहेंगे तो भी दूसरा उदाहरण एक नट का लड़का है उसने प्रीता को इतना सुंदर स्वरूप बनाया उसने सीता मतवा और आपने हाव भाव प्रकाश ज्ञान से सारी सभा को मुक्त जो अज्ञानी कामी है उनके मन में बड़ी वासना उत्पन्न हो गई यह जो है भाष्यकार भगवान प्रश्न उठाते हैं मत्वा श्री वेशधारी सिन्नतो इच्छा क्या उसको पति की इच्छा होगी पति की इच्छा होगी स्त्री के समान उसका शरीर दिखाई दे रहा है स्त्री के समान उसका बोलचाल है स्त्री के समान अपने फीलिंग का जो है वाक्यों का प्रयोग कर हाव भाव कटाक्ष से उसने सारे सभा को मुक्त कर दिया है और उसके अंदर पति की इच्छा उत्पन्न होगी नहीं क्यों नहीं वो अंदर से उसको ये ज्ञान मैं पुरुष इस ज्ञान को वह किसी भी प्रकार से काटने ठीक इसी प्रकार यह साक्षात पूर्ति प्रबोध समय प्रबोध समय में जब आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपने देखता है अपने से अतिरिक्त कुछ समझ उसके अंदर उत्पन्न इंद्री से दिखते हुए भी व्यवहार करते हुए भी वह आत्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं ये जो अनुभूति है ही अनुभूति को काटने लगा तो इंद्री से एक चीज दिखाई दे बहुत जगह व्यक्ति को दिग्भ्रम हो जाता है तो मालूम होता है पश्चिम से सूरज उदय उदय हो रहा है पर अंदर क्या निश्चय होता है यही पूरब है अंदर निश्चय होता है यही पूरब है नेत्र से दिखता है ये पश्चिम पर अंदर से अनुभव होता यही बुद्धि उसी को पूरक नेत्र उसको पश्चिम भले ही कहते ऐसे नेत्र से दिखना एक चीज ये माइक नेत्र से दिखना एक चीज है आपके अंदर ये ज्ञान नेत्र है जो गुरु कृपा से ज्ञान नेत्र खुलता है वो ज्ञान नेत्र जब खुल जाता है सुघर ही विमल विलोचन ही के गोस्वामी जी जब ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हाय तब न उघड़ेगा उघर ही कहते हैं मैंने बंद है खुल जाता है जी गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती तलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग उर आव ही जातु तो उघर ही विमल विलोचन ही इसका मतलब सभी के अंदर एक ज्ञान नेत्र है और वह बंद है वह बंद है बंद कैसे है देखिए हम स्वप्न देखते हैं तो हमारी ये नेत्र बंद रहते हैं पर स्वप्न हम देखते हैं स्वप्न के नेत्र से स्वप्न की वस्तु दिखाई देती है माया के नेत्र से माया की वस्तु दिखाई देती है of God to ज्ञान ज्ञान नेत्र जब खुलता है तो माया का नेत्र बाधित हो जाता है माया का नेत्र खुलता है तो स्वप्न का नेत्र बाधित हो जाता है जिस नेत्र से आप स्वप्न देख रहे थे आप जग गए इस माया के नेत्र में वो बाधित हो जाता है उसमें मिथ्यात्व आ जाता है ऐसे ज्ञान नेत्र खुलते ही माया का नेत्र माया के नेत्र से दिखाई देने वाला दृश्य बाधित हो जाता स्वप्न की स्मृति आपको आ सकती है पर उसमें सत्यत्व नहीं आ जगत इन नेत्रों से दिखाई दे रहा है पर तुरंत बाधित तो गोस्वामी जी कहते उघर ही विमल विलोचन दोष दुख भवर जनी तो सूझ राम चरित्र जहां आपको चित्र दिख रहा है यही पर्दा दिखेगा पर पर्दा ज्ञान नेत्र से दिखेगा जहां जगत दिख रहा है यही आपको अपना स्वरूप दिखेगा और जहां आपको स्वरूप दिखेगा वहां ये जगत जो दिख रहा है वो दिखने पर भी बाधित हो जाएगा उसमें से प्रत्यक्ष इसी को कहते जस साक्षात गुरु से प्रबोध समय क्या प्रबोध के समय में किसका साक्षात्कार करता है स्वात्मान अद्वयम स्व स्वात्मान एवं साक्षात एक मेवा द्वितीय अपना स्वरूप ही उसको भगवान उसके वार्षिक में लिखते हैं अनादि माया सुप्त है यदा जीव प्रबुद्ध के अयम मणिद्रम अस्वप्नम अद्वैत भूषित कैसे श्रुत्याचार्य कृपाधीन तीन हेतु बताए श्रुत्याचार्य कृपाधीन योगाभ्यास बलिन च और ईश्वरानु ईश्वरानुग्रह प्रणाली ये तीन चीज वहां पर उन्होंने बताया कि एक तो क्या है श्रुत्याचार्य पहले जब जगत की इसको वैराग जब जगना चाहे जब तक जगत के वस्तु में प्रीति है तब तक जगना नहीं चाहता है सोना चाहता क्योंकि सपना खंडित हो जाएगा जब तक जगत की वस्तु में प्रीति है तब तक जगना नहीं चाहता है सोना चाहता बल्कि बरीक श्लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदन न सकते जब इस जगत की परीक्षा कर लेता है अरे इतने दिन से खा रहे अभी तक तो पेट नहीं भरा जीवा से मिठाई दूध खाते खाते पेट हाथ जवाब दे दी पर खाने की ना नहीं गई रूप देखते देखते नेत्र पर चश्मा लग गया पर रूप देखने की ना नहीं गई ये धोखा कब तक चलेगा यहाँ तृप्ति नाम की कोई चीज होती तो अब तक मैं तृप्त हो गया होता कि नहीं इस जगत में यदि तृप्ति नाम की कोई चीज होती तो तृप्त हो ये धोखा कब तक चलेगा जब जगत को इस रूप में देखता है वो परीक्षा कर देता परीक्षण कर देता तब उसको जगत से बना जाता है यह धोखा है यहाँ इतने काल से लगा हूँ कोई वृद्ध नहीं कहता कि मैं एक पेटी दो पेटी दस पेटी तो बटोर करके हमने रखा है हम दूसरे को दे सकते हैं उससे पूछा जाता है कि तुम जन्म से लेकर के सुख बटोर रहे थे तो दो चार दस पेटी रखोगे तो रोने लगता है वो रोने लगता क्यों रोने लगता है का सब धोखा हो गया सारी अवस्था बीत गई धोखे में बीत गई सोचा ये हमारी सहायता करेगा तो ये हमारी अरे तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा गाना मानने को तैयार नहीं तो लड़का नहीं माना बहू नहीं माना तो क्या बिगड़ गया तुम्हारा पर ऐसा विचार नहीं ये विचार नहीं उत्पन्न होता कि जिस शरीर को हमने आत्मा माना वही हमारा गाना मानने को तैयार नहीं है यही आंख हमारा कहने को नुकसान मानना चाहिए तो बहू नहीं माना तो क्या बिगड़ गया अपना बहुत बिगड़ गया अब यही नहीं मान रहा है जिसको हमने आत्मा माना वही हमारा कहाँ नहीं मान जाता है तो बाहर का कोई माना नहीं तो उसमें कहाँ का अपमान हो गया ये जगत ऐसे है ये बात समझ में नहीं ले लेता है ये विवेक नहीं ले करके फालतू रसा है मोहन प्रत्यक्ष विवेक है कि जिस शरीर को तुमने आत्मा माना वही नहीं मान रहा था तो बाहर का नहीं माना तो कौन सा अपमान तुम्हारा हो गया ये विवेक आ जाए तो बड़ी श्लोकानुसंधान अब गुरु के पास जाता अरे कहा गुरु के पास तो हम पहले से जा रहे हैं हाँ गुरु के पास तुम तो पहले से जाते हो पर गुरु के पास जो संपत्ति है उसको लेने के लिए नहीं जाते संसार की समस्या के समाधान का उपाय गुरु की संपत्ति लेने के लिए कहा गए तो सब वस्तुतः गुरु की संपत्ति लेने के लिए हो जाता है रुचि ये कार्य इसलिए देती है कि तुम जगत छोड़ करके जंगल में बैठ जाओगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा एक बहुत बड़ी चीज है जिस समय साधु घर छोड़ता है कोई विवेकी जिस समय संसार होता है उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है क्या उपलब्धि है किसके आधार पर छोड़ता है वो लोग जितना ममत्व ने बनाया था एक मिनट में उस ममत्व को तोड़ दिया सच्चाई से छोड़ा हो एक मिनट में ममत्व को तोड़ दिया कि नहीं किस बल पर तोड़ दिया एक ईश्वर बहुत बड़ी उपलब्धि है बहुत बड़ी बाहर से नहीं मालूम होता बड़ी मामूली उपलब्धि नहीं एक मिनट में सारा ममत्व तो आप तोड़ करके और जंगल में चल देंगे तो कोई बल आपके पास है तभी तो तोड़ पाए आप नहीं तो कैसे तोड़ पाए उसके बाद देखो उस ममत्व का मूल है अहंकार ये कार्यकर्ण संघात में जो अहंकार है यह मूल है इसी ने ममत्व इसलिए गुरु के पास ही जाकर के उसको तोड़ उस अहंता को तोड़ दोगे तो फिर तुम्हारे लिए कोई समस्या और वह अहंता यदि बनी रह गई तो फिर ममत्व बना इसलिए कहते हैं गुरु तो देखो गुरु के पास जाएगा तब गुरु की कृपा प्राप्त करेगा गुरु की कृपा कृपा प्राप्त कर ले और गुरु जो साथ का उद्देश्य करेगा वो गुरु के अंदर जो अर्थ नीत है वह तुम्हारे अंदर बैठ जाए तो श्रुत्याचार्य बता दे यही ईश्वर का अनुग्रह इसलिए ईश्वर अनुग्रह ये ईश्वर ये ईश्वर का अनुग्रह जो हमारे ये साक्षात गुरु से प्रबोध पापमान सब वहां देखो तीन एक हो गए गुरु अपने को जो स्वरूप जानता है शिष्य उसी स्वरूप में जग, जगेगा कि नहीं इसी को भाष्यकार भगवान ने कहा कि देखो गुरु के सदगुरु के लिए कोई उपमा नहीं है लोग पारस की उपमा देते हैं और सदगुरु पारस की उपमा नहीं दी जा सकती है पारस लोहे को सोना बनाता पारस नहीं बनाता स्वीयम साम्यम विधत्ते गुरु तो अपना स्वरूप प्रकट गुरु गुरु बना देता है गुरु जिस तत्व में प्रतिष्ठित है उस तत्व में प्रतिष्ठित कर देता है गुरु और आप एक हो जाते हैं और ईश्वर भी उसी के साथ एक हो जाता है ईश्वर व गुरु रात में दक्षिणा मूर्ति ये जो दक्षिणा मूर्ति शब्द जो है यह जो परमेश्वर की पांच शक्तियां निरंतर काम करती सृष्टि शक्ति सृष्टि करती पालन शक्ति पालन करती संहार शक्ति संहार करती माया शक्ति जो निग्रह शक्ति है वो सबको जगत में लगाती है और एक अनुग्रह शक्ति वो निरंतर जीव को शिव में प्रतिष्ठित करने के लिए योजना उसी योजना में विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं उसी योजना में महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता है उसी योजना में ऐसे आयोजन होते हैं वो अनुग्रह शक्ति संबलित जो परमेश्वर है उसी का नाम है आदि शक्ति उसी का नाम है दक्षिणामूर्ति शिव दक्षिणा मूर्ति क्यों है यही कुशल मूर्ति है देखो परमेश्वर मूल जो मूल मूल आधार जो आपका ब्रह्म है उसमें भी आपके अज्ञान को दूर करने की कुशलता नहीं है है कुशलता क्या यदि उसमें कुशलता होती तो कोई अज्ञानी ब्रह्म आपके अज्ञान को दूर करने में समर्थ नहीं है वो तो सत्ता दे रहा है अज्ञान को भी सत्ता दे रहा है सभी को सत्ता दे रहा है यदि ब्रह्म सबके अज्ञान को दूर कर देता तो कोई अज्ञानी रह नहीं सकता ईश्वर में भी वो सामर्थ्य नहीं है बिना गुरु बच्चे वो गुरु भाव में आता है तभी अज्ञान को दूर कर सकता है नहीं तो वो तो शासन जीव को जैसा कर्म किया है जैसा कर्म कर रहा है उसी को फल देने वाला है वो तो शासक है सारे विश्व का नियंता है पर वही जब अनुग्रह शक्ति संबलित होकर के तब उसमें कुशलता आ जाती है दक्षिण दक्षिण मूर्ति दक्षिणा मूर्ति क्या है कुशल मूर्ति ये गुरु ही कुशल मूर्ति है आपको स्वरूप प्रदान करने में ये गुरु ही अति कुशल मूर्ति है अब आज तो समय हो गया है इसी विषय में थोड़ी बात कर करके कल हम दो श्लोक और करेंगे तब आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये प्रथम का था तो इसमें आधारभूत कुछ बातें बतानी थी पर हम दो के हिसाब से प्रतिदिन करेंगे तो पाँच दिन में ये दस श्लोक है दस श्लोक हो जाएंगे बोलो सच्चिदानंद भगवान की उसके ले आकर के महादेव के मंदिर में रख उसके बाद उसको कौन ले गया कौन उठाया साग किसने बनाया वो साग हमको दिया कि नहीं दिया इत्यादि के विषय में कोई उनके मन में विचार नहीं आश्रमधारी ले जाए बनावे उनको दिया न दिया इन सब बात को कोई कोई उनके अंदर संस्कार नहीं ये एकदम संस्कार आप देखिए आप देखिए तत्परता थी कि नहीं पर किसी किसी रस के साथ फल फल के साथ संबंध उनके मन का नहीं बना फल जो है तो इससे क्या हुआ कि वो महादेव के लिए ही किया उन्होंने और फल के साथ जो है वो फल किसी को दिया कि फेंका कि क्या किया उससे उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा इसका मतलब उनके अंदर रस नहीं था वन पे वृद्ध हो गए थे वृद्ध हो गए थे एक महात्मा ने कहा कि क्या स्वामी जी अरे शरीर जो है वृद्ध हो गया कब तक इस कर्मकांड में लगे रहोगे तो उन्होंने कहा कि महात्मा ये शरीर तो हमने बहुत पहले छोड़ दिया शरीर तो पहले छोड़ दिया बस उसके पाँच सात दिन बाद ही बस शरीर छोड़ना हुआ जब बैठ गए और बैठने के बाद जो है वह जो स्वामी जी से बुला लिए उनको कहा कि महाराज जो है अभी जाने वाला है इसका पूरा हो गया काम आप जो है वह थोड़ा विष्णु सहस नाम हमको सुना सुनाया और फिर गीता सुनने लगे अब जो ओम का अक्षर ब्रह्म आया ये श्लोक तो तो देखो निष्कामता में बहुत बड़ी चीज है पर क्या होता है कि निष्काम व्यक्ति रह नहीं पाता उसके रस से संबंधित ये प्रशंसा से संबंधित हो जाता है अब ऐसे लोगों की प्रशंसा भी लोग करते हैं तो प्रशंसा करते हैं वो रस लेता है चित्त की नहीं लेता है यहाँ सावधान प्रशंसा सुनना अलग चीज है और उसमें रस लेना अलग चीज है उसको अंतर अनुभव करना चाहिए साधक को अकाय मायना तो उसको न तस् प्राणा उत्क्रामी ब्रह्म सन ब्रह्मापीति वो जो है उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता वो ब्रह्म होकर के ही जो है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है भक्ति में रस जो है रस चाहे भक्ति हो चाहे चाहे ज्ञान का साधक हो वो निष्काम चाहे भक्ति हो वहां भी जब जगत विषय रस आएगा तो उसकी जो है भक्ति में बाधा इसी प्रकार जगत विषय रस इसमें आएगा तो उसके ज्ञान योग्यता में बाधा भाई इतने है फल तो मिल ही गया उसको आज तक कल शुद्धि रूपी फल नहीं होगा अरे भाई आप दूसरे जगह जब रस ले रहे हैं तो उसका दूसरा फल तो हो प्राप्त सन्यासी जो है वह वेषणाओं का त्याग करने वाला सन्यासी प्राप्त सन्यासी कौन होता शांता जिसके सभी वासनाएं शांत हो गई वह किस प्रकार ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है अपूर्ण पुण्यो पर भी जब पुण्य पाप दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाता है यानी कर्म संबंध से रहित हो जाता है और जो है वह भवन निर्माण कोई वासना न होने के कारण संसार से निर्भय होता किसी प्रकार की संसार की वासना नहीं है ऐसा जो शांत संत सन्यासी है वह जिसको प्राप्त करते हैं उस मोक्षा मोक्ष स्वरूप को नमस्कार है इसे स्मृति ये मनुस्मृति का शायद है त्यज धर्मम अधर्मम च हम्म? कैसे है त्यज धर्मम अधर्मम च सत्यानृतम त्यज उभे सत्यानृति त्यक्वा इन त्यजसी तत्व ऐसा है ये महाभारत इत्यादि पुण्य अपूर्णीय त्यागोपदेशा पुण्य अपूर्णीय दोनों के त्याग का उपदेश होने से निराशी निराशिषम